सत्र में हम ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास करते हैं आज संध्योपासना के मनसा परिक्रमा का अंतिम मंत्र लेंगे ऊर्ध्वादि अधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षम विषव तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम यशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम् ओजम्भे दद्मः ऊर्ध्वाधिक हमारी ऊपर की जो दिशा है उसके स्वामी बृहस्पति हैं बृहस्पति का अर्थ है बृहद अर्थात वेद अथवा जितने भी बड़े से बड़े पदार्थ हैं सूर्य आदि बड़े बड़े जो भूगोल हैं लोग लोकांतर हैं इन सभी के जो स्वामी हैं वो ही ऊपर की दिशा के स्वामी हैं दूसरा है रक्षित स्वित्रो रक्षिता यह भी ईश्वर का ही विशेषण है स्वित्र शुद्ध स्वरूप जो समस्त बड़ों के स्वामी हैं वही शुद्ध स्वरूप भी हैं और हमारे रक्षक हैं वर्षम ईश्व और इस ऊपर दिशा की सबसे बड़ी जो संपत्ति है या ईश्वर की देन है हमारे लिए वो वर्षा है वो वर्षा ईशु है हमारे जीवन का साधन है ईश्वर प्रदत्त एक विशेष उपलब्धि है हमारे लिए इस प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना इन गुणों के माध्यम से करनी है बृहतामपति वेदों के या बड़े बड़े पदार्थों के स्वामी होने से यहाँ अभिप्राय क्या है हमारा जो जीवन है इसमें जो अन्य योनियों से पशु पक्षी आदि से उत्कृष्टता जो है उसमें सबसे पहला कारण है यह वाणी जो व्यक्त वाणी हम बोलते हैं ऐसी वाणी और किसी के पास नहीं होती मनुष्यों के अतिरिक्त दूसरे ऐसा उच्चारण नहीं कर सकते दूसरी है कि हम जिस प्रकार से एक दूसरे की वाणी को ग्रहण कर लेते हैं और दोबारा उच्चारण करने में समर्थ हो जाते हैं पशु तो पक्षी आदि ऐसा नहीं कर सकते नहीं करते हैं और इसके कारण क्या है उनके ज्ञान भी ज्ञान पर प्रतिबंध लग जाता है और हमारा ज्ञान भी ज्ञान निरंतर बढ़ता है इसके कारण शब्द ज्ञान अगर हमको आराम से उपलब्ध नहीं हो तो हमारा भी जीवन इनके समान पशुओं के समान ही एक सीमा में रह जाएगा पशुओं का जीवन स्तर इसीलिए नहीं उठ पाता है कि उनको ऐसा नैमित्तिक शाब्दिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है वो एक दूसरे से सुन के सुना के कुछ सीख नहीं सकते हैं इसलिए उनका ज्ञान बढ़ता नहीं है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ जाता है तो इसी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यानी वाणी के माध्यम से हमारा ज्ञान विकसित होता है हमारा जीवन भी विकसित होता है दूसरा है कि ज्ञान हमको वाणी से मिलता है लेकिन इसके साथ साथ और भी वेदों का सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो है धर्माधर्म का निश्चय केवल वेद से संभव होता है और किसी प्रकार से धर्माधर्म का निश्चय नहीं किया जा सकता है इसलिए यदि हमको वेद ज्ञान उपलब्ध नहीं हो तो भी हम जीवन को पूरी तरह से सफल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसका निर्धारण मनुष्यों से संभव नहीं है वेदों से संभव इसीलिए कि वेद ईश्वर की वाणी है और ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण सभी के साथ जो एक समन्वयात्मक व्यवहार संभव है उसको वो जान पा जान पाते हैं और उसका विधान हमारे लिए कर देते हैं क्योंकि धर्म और कुछ नहीं होता है परस्पर का एक जो समन्वयात्मक व्यवहार होता है वही धर्म होता है सामने वाले के साथ कितना हम किस रूप में व्यवहार करें लेन देन करें सामने वाला हमसे कितना किस रूप में करे केवल हम दोनों नहीं जान सकते सारा पूर्वापर वही जानेगा जो हम दोनों को पूरी तरह से देख सकता है जानता है तो अंदर बाहर या कितना कर सकते हैं हम सब मिल करके ये केवल ईश्वर को ही ज्ञान हो सकता है इसी कारण से हम क्या करें नहीं करें अपने अनुभव से नहीं कर सकते इसको निर्णित नहीं कर सकते इसका निर्णय इसीलिए केवल ईश्वर के द्वारा करना होता है सभी प्राणियों के प्रति परस्पर का किस प्रकार का कितना कितनी मात्रा में व्यवहार संभव हो इसका निश्चय ईश्वर को ही होता है और वही वेद के माध्यम से हमको उपलब्ध होता है इसी कारण से जीवन सफल होता है अन्यथा अधर्म के कारण हमारा जीवन असफल रहता है हम विशेष उन्नति नहीं कर सकते जीवन में तो वेदों के द्वारा सबसे बड़ा लाभ यही होता है हमको धर्माधर्म का ज्ञान हो जाता है और उससे हमारा जीवन पूरी तरह से सफल होता है तो जीवन की सफलता का आधार वेद है और वेद का भी आधार वेद के पति हम्म, ईश्वर इसके स्वामी हैं इसी प्रकार से जितने में हम जी रहे हैं पृथ्वी पर इतने मात्र से भी हमारा जीवन संभव नहीं है हमको अन्य भूगोलों के सहायता की अपेक्षा रहती है तो इन सभी का एक जो विशेष समन्वय होना चाहिए हमारे जीवन के साथ यह सब ईश्वर के स्वामित्व के कारण संभव है ये पदार्थ भी अगर ईश्वर के अधिकार में नहीं होते तो इतना बड़ा हमारा जो संसार है हमारा जो सबका जीवन है एक साथ संभव नहीं हो पाता क्योंकि कोई वस्तु जब जिसके अधिकार में नहीं होती है तो वो उसके लिए पराधीन रहता है और समय पर उसकी उपलब्धि नहीं कर पाता है तो स्वामी होने के कारण अब इन सभी की व्यवस्था करने में ईश्वर को कोई बाधा नहीं होती है या अन्य किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है तो इसीलिए हमारा जीवन सुचारू रूप से सरल रूप से आगे बढ़ता जाए तो जैसे यहाँ लोक में अपेक्षा होती है बड़े से बड़े संपत्ति वाले को हम की हमें सहायता उपलब्ध हो जाती है तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है विपन्न रहते हैं निर्धन होते हैं तो हमारा जीवन पदे पदे बाधित रहता है तो ऐसा ही ईश्वर के इतने बड़े जो स्वामी हैं सब कुछ के पति हैं वही हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो निश्चय से हम शांत सुखी निर्भय और प्रसन्न आनंदित हो सकते हैं इसके विपरीत है कि जो बड़ा होता है उसके विरुद्ध यदि हम चलते हैं तो स्वभाव से हमारा जीवन बाधित होने लगता है क्योंकि उसके नियमों का अतिक्रमण करना ही करना होता है विरुद्ध स्वभाव के कारण उसके नियम को तोड़ते हैं तो ऐसी अवस्था में हम उसके लिए प्रतिद्वंदी बनते हैं और वो हमें फिर दंडित भी करता है लेकिन वह यदि हमको अनुकूल हो जाए तो हमारा स्वभाव अपने आप उसके अनुकूल चलने का हो जाता है और बड़ों के प्रति हम स्वाभाविक रूप से यदि विनम्र हो जाते हैं उनके अनुकूल हो जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अधिक सुखमय अपने आप हो जाता है यही अभिप्राय यहाँ पर भी ईश्वर के साथ है कि उनको सबसे पहले तो बड़ा से बड़ा मानना है स्वीकार करना है एक छोटा व्यक्ति भी जब हमारे साथ कोई मित्र होता है रह रहा होता है तो उसको हम कुछ नहीं समझते हैं लेकिन वही पूरे राष्ट्र से जुड़ जाता है मंत्री हो जाता है अधिकारी बड़ा हो जाता है तो अब हम भेद करने लग जाते हैं तत्काल अंतर आ जाता है दोनों में तो ऐसे ही अंतर ईश्वर के साथ भी करना है मन में वो भाव को लाना है जैसे यहाँ के स्वामियों को देख करके ऐश्वर्यशालियों को देख करके हमारा मन अभिभूत होता है उससे तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वर के कारण भी हमारा मन अभिभूत होना चाहिए ईश्वर से दबना चाहिए नहीं दब रहे हैं तो इसका मतलब है उसके स्वामित्व को ऐश्वर्य को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये वास्तविकता नहीं है इसलिए हमारी अज्ञानता होगी क्योंकि ऐश्वर्यों के कारण साधनों के कारण धन से बल से निश्चय से हम दबते तो हैं यहाँ तो दबना हमारा स्वभाव है स्वभाव होने के कारण अगर ईश्वर के साथ इसी परिस्थिति में हम नहीं दबते हैं तो उसका एक ही कारण होगा हम नहीं जानते ईश्वर को या नहीं मानते हैं यहाँ भी किसी के संपत्ति के होते हुए भी हम उसका तिरस्कार करते हैं तो यही करते हैं उसको मानना छोड़ देते हैं और मानने के कारण फिर क्या होता है वो बाहर से हम फिर हमको दबाता है और अंत में दबना पड़ता है निषादन होने पर तो इसीलिए अगर यहाँ पहले से हम मान लेते हैं तो ये परिस्थिति नहीं आती तो जो जो स्थिति हमारी लोक में होती है और जिन जिन गुणों के प्रति हमारा यहाँ दबना होता है वो सारे के सारे अच्छे गुण ईश्वर में भी यदि हैं तो स्वाभाविक रूप में हमें दबना चाहिए ईश्वर के भड़प्पन को हमें स्वीकार करना है तो इस मंत्र के माध्यम से हमें अपने चित्त को इसी प्रकार बनाना है शुद्ध स्वरूप जिसमें क्लेश नहीं है अविद्या नहीं है लोभ लालच आदि या अहंकार आदि जो दोष होते हैं जो कि बड़े लोगों में आ जाते हैं यहाँ के जो भी श्रेष्ठ होता है या धनवान होता है उसके अंदर क्रोध अभिमान दूसरे को दबाने की भावना ये सारे दोष होते हैं इनमें वर्षम वर्षा ये जो बारिश होती है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है जीवन का यीशु का अर्थ है जीवन का उपयोगी साधन तो ऊपर की दिशा में सबसे बड़ा साधन यही है बरसाई है हमारे लिए जीवन के लिए तो इस कारण से यहाँ पर इनका भी नियोग किया हुआ है तो मूल चीज है ईश्वर के बड़प्पन को समझना ईश्वर को बहुत बड़ा मानना अपने चित्त में स्थान देना इसके लिए विशेष प्रयास करना है और संबंधों को जोड़ते जोड़ते करेंगे उसको आरंभ यहां से भी कर सकते हैं कि हम बड़ा क्यों होना चाहते हैं अथवा जिनसे हम बड़े होते हैं वहाँ हमारी कितनी अनुकूलता कैसी स्थिति रहती है अनुकूलता निश्चय से रहती है अतः बड़प्पन अपने आप में एक गुण है और यही निरतिश निरतिशय रूप में ईश्वर में है इस कारण से ईश्वर में कितनी अधिक अनुकूलता होगी यहाँ से भाव बनाने का प्रयास करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ साथ संबोधन समर्पण पूर्ववत पतिः येभ्योऽस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं च वयं दुष्म तं परमात्मन आप ही सर्वोपरि हैं सब कुछ आपका ही है सब आपके ही नियंत्रण में है सभी आपके अधिकार में ही हैं आपसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे भी स्वामी हैं आप महान को पाकर मैं भी कृतार्थ हूँ आपका अत्यंत आभारी हूँ आपने अपने बड़प्पन के साथ ही हमें भी स्वीकार किया हुआ है अपना सानिध्य प्रदान किया हुआ है अपनी महिमा के अंदर सुरक्षित किए हुए हैं हमारी उन्नति के लिए हमारे सुख के लिए हमको आनंदित करने के लिए हमें कृतार्थ करने के लिए आप इतने महान होकर भी सदैव तत्पर हैं यह आपकी और अधिक महानता है मुझ छोटे से अल्पज्य अल्प सामर्थ्य के लिए भी आप इतनी दयालुता प्रकट कर रहे हैं मैं आपसे अत्यंत आत्मविभोर हूँ अत्यंत अभिभूत हूँ आप मेरा निरादर नहीं कर रहे हैं सदैव मेरा ध्यान रखे हुए हैं इतने ऊंचे होकर इतने महान होकर आपने हमें अपनाया हुआ है यह मेरा परम सौभाग्य है मैं अत्यंत ही विवल हूँ अत्यंत ही आपका आभारी हूँ आप मुझे इस अवस्था का साक्षात अनुभव कराएं इस यथार्थता की अनुभूति कराएं मेरी बुद्धि में इस अर्थ को प्रकाशित करें मैं इसके लिए ही इस समय तत्पर हूँ आपकी इस महत्ता को जानने के लिए समुदित हूँ आप मुझे अनुग्रहित करें आप इतने महान होते हुए भी शुद्ध स्वरूप हैं यह और भी आपका बड़प्पन है मैं अपनी अज्ञानता के कारण अल्प सामर्थ्य के कारण प्रायः दोषों से लिप्त रहता हूँ मिथ्या ज्ञान से युक्त हूँ अज्ञान से ज्ञान के अभाव से संबद्ध हूँ आप कृपया मेरे इस मिथ्या ज्ञान को दूर करें मेरे ज्ञान की न्यूनता को पूर्ण करें ज्ञान से मुझे आप लाभित करें मैं अपने जिन दोषों को क्लेशों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ आप अपनी प्रेरणा से अपनी विद्या से हमें प्रेरित करके उन्हें छुड़ाने का सामर्थ्य प्रदान करें ताकि मैं निश्चय से आपकी इस यथार्थता को ग्रहण कर सकूं, जान सकूं। आपने मेरे जीवन के लिए तो इस पृथ्वी वनस्पति अन्नादि के साथ साथ इस वर्षा का अनुदान दिया है यह मेरे भौतिक जीवन के लिए पर्याप्त है किंतु मैं इसे तो आपकी विशेष कृति मानता हूँ केवल आपकी एक महिमा मात्र है यह तो आपका ही एक दयालुता का प्रतीक है यह तो पुनरपि इस जैसे मैं अपने इस भौतिक जीवन में जल से वृष्टि से कृतार्थ होता हूँ मैं वस्तुतः आंतरिक रूप में अपने आत्मा के स्वरूप से अप्लावित आनंदित होना चाहता हूँ आप मुझे भीतर भी अपने आनंद की वर्षा से आप्लावित करें मुझे उसकी विशेष रूप से चाह है <clears throat> जैसे हमारा बाहरी जीवन दृष्टि के द्वारा संपन्न होता है ऐसे ही हमारा आंतरिक जीवन भी आपकी आनंद वृष्टि से संपन्न होगा एतदर्थ आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षित्रेभ्यो नम यशुभ्यो नम मैं आप अधिपति के प्रति अत्यंत विनीत हूँ आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर हूँ आपकी प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध हूँ आपको जानने के लिए निरंतर प्रयासशील हूँ मैं अपने पुरुषार्थ में कोई निम्नता नहीं आने दूंगा आप जिस प्रकार से शुद्ध स्वरूप हैं मैं भी अपनी अविद्या को चित्त के दोषों को दूर करने के लिए तत्पर हूँ और इन्हें दूर हटा दूंगा ऐसा मैं आपके समक्ष संकल्प कर रहा हूँ आप मेरे संकल्प की पूर्णता के लिए बल प्रदान करें ज्ञान प्रदान करें ऐसी मैं आशा रख रहा हूँ जैसे आपकी अवृष्टि संसार में जीवन देने वाली नए नए प्राणियों को उत्पन्न करने वाली होती है ऐसे ही मेरे जीवन में आत्मा में आपकी प्रेरणा से आनंद का संचार हो नए नए उत्साह अधिगुण मेरे अंदर उत्पन्न होवे इतदर्थ में अपने आप को पूर्णतः सज्जीभूत कर रहा हूँ मेरी अज्ञानता और अल्पज्यता आदि के कारण दूसरों के साथ व्यवहार में जो दोष होते हैं जिस कारण से मुझ में द्वेष या मेरे प्रति किसी में द्वेष उत्पन्न होता है मैं उसको उपेक्षित करता हूँ निश्चय से आप उसका प्रतिफल हमें देंगे न्याय करेंगे आपके ऊपर मैं पूर्णतः विश्वास रखता हुआ उसका परित्याग करता हूँ अब मैं केवल आपकी ही भक्ति में आपकी ही आज्ञा पालन में तत्पर रहूँगा आप मुझे पूरी तरह से स्वीकार करें परि परमात्मन <clears throat> आप इतने महान हैं इतने श्रेष्ठ हैं यह भी ज्ञान हमें आपकी यह साक्षात वाणी इस वेद मंत्र से ही उपलब्ध हो रहा है निश्चय से आप महान हैं मुझे यह परिज्ञान हो रहा है आपने इस मंत्र के माध्यम से हमें अत्यंत कृतार्थ किया है मैं इसी के माध्यम से आपको पूरी तरह से जानना चाह रहा हूँ आप इन शब्दों के अर्थ को मेरे अंदर प्रकट करें हे परम निधे मैं अब तक आपके इस महान आधिपत्यों की उपेक्षा करके ही लोग के इन छोटे छोटे आधिपत्यों के लिए प्रयासशील था इन्हीं में मैं अपना समय लगा रहा था इनको ही मैं अंतिम समझ रहा था इनके लिए ही अपनी पूरी शक्ति लगाने को था किंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगा आपकी अपेक्षा में ये लौकिक आधिपत्य अत्यंत तुच्छ हैं अब मैं इनकी ओर से निवृत्त होकर आपके ही पूर्ण आधिपत्य को प्राप्त होना चाहूँगा उसके लिए समय और शक्ति का नियोजन करूँगा हे परमेश्वर ये आपके ऐश्वर्य आपके ही रहेंगे मुझे इनके प्राप्ति की कोई कामना नहीं है ना ही मेरी सामर्थ है मैं अल्पज्य हूँ अल्प सामर्थ्य हूँ मुझे इन आधिपत्यों से कोई प्रयोजन नहीं है आधिपत्य तो आपके ही रहे मुझे तो केवल आपका अपनत्व चाहिए आपकी सन्निधि चाहिए आप महान हैं आपके प्रति मेरी प्रीति केवल हमें अपेक्षित है हमें केवल आपका स्वामित्व चाहिए आप यही अनुग्रह मेरे लिए करें केवल अपने स्वरूप की इस महान स्वरूप की हमें अनुभूति कराएं आप में मेरी दृढ़ प्रीति होवे वस्तुतः मेरी इतनी ही कामना है इतने से ही मैं कृतार्थ हूँ ऐसा ही आप अनुग्रह करें हमारा समय पूर्ण होता है विराम की ओर चलेंगे